सम दिन रात बोझा ढोए हैं ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे हैं सोए हैं आज शरबत का भंडारा कर लेंगे दोपहर को चलो ठीक है कई कई प्रकार का शरबत आया है हाँ जी मटके का पानी मानी विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते अंतरात्मा परमेश्वर को छोड़कर जो और की पूजा करते हैं हाथ में मक्खन फेंक के छाछ चाटते अंधे न कुपे न प्रविशंति ये भगवान बड़ा है वो देवता बड़ा है ये तीर्थ बड़ा है सारे का सारा ये तुम्हारा सत्य तीर्थ है क्षमा तीर्थ है ब्रह्मचर्य तीर्थ है शौच तीर्थ है ये अंतरात्मा की तरफ ले जाने वाले तीर्थ है नहीं तो तीर्थों में आकर भी लोग सुल्फा बीड़ी कई ऐसे जो साधु के कपड़े में हैं जो साधु होंगे उनको तो नमस्कार है कई ऐसे बिहारी बिहारी काम धंधा नहीं है तो सीजन में गेरुआ कपड़ा पहन के आ जाते हैं अपना खा पी के दक्षिणा बक्षिणा इकट्ठी करके चलो कौन मजूरी करे ऐसे अपराधी वृत्ति के यहाँ सपेरे हैं वो भी बड़े साधु बन के चले दूसरों को तो ठगे मेरे को मैं तो दिन रात उनको देखता हूँ बाबा जी गुरु जी की जय हो दाता की जय हो एक धोती दिला दो रानी सुल्पे भी जा बेटे बेटियाँ हैं मौका मिले तो अभी देख जाए थोड़ी देर के बाद चुरा के ले जाए ऐसे लोग मेरे को भी पटाने में पीछे नहीं हटते बोले कहीं तो पटा भी ले जाते हैं दे देता हूँ चलो बाद में पता चलता है कि तो ठग था हम्म। मेरे जैसों को भी बबलू बना देते हैं हरिद्वार में कई जैसे नारायण हरि तो संसार चलता रहता है जहाँ भी दुर्वासना है और भगवान प्यारे नहीं है और जगत प्यारा है वहाँ गड़बड़ी हो ही जाती है ओम ओम ओम एक लाख रुपए का चेक मिला है किसी का हो तो ले जाओ सेल्फ चेक है किसी को मिला मेरे को बताया मैं क्या अर्जुन को दे दो जिसका हो उसको वापस कर दो लाख रुपए का चेक किसी का गिर गया है सेविकाओं को मिला मेरे को बताया मैं आपको बताता हूँ किसी का भी हो ले जाओ अपने क्या करना सेल्फ चेक है लाख रुपए लिखा हुआ है खाली लाख रुपए किसी का भी हो ले जाए सेल्फ चेक एक लाख रुपए लिखा हुआ है साइन भी किया हुआ है अर्जुन से मिल लेना जिसको भी लाख रुपए का चेक हो गया हो तो यहाँ मिलाए सेविकाओं को मेरे पास लाए मैं बोला अर्जुन को दे देना चलो पढ़ो लाख रुपए का चेक तो क्या भगवान खो गए साथ में होते हुए भगवान साथ में मिलने नहीं बैल के बैल ककरी ना करा बोए बोए ओलिया